रूही बेहद डरी हुई नजर आ रही थी उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका था उसने लगभग रोती हुई आवाज में विक्रांत से कहा मेरे पास सिर्फ एक फोन है जो आपने मुझे दिया था आप मेरे साथ उस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं हम्म, विक्रांत ने उसे एक नजर ध्यान से घूरा और फिर बात बदलते हुए कहा रूही तुम्हें पता नहीं चला मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था विक्रांत की ये बात सुनकर सबने राहत की सांस ली साथ में सबकी नजरों में रूही के साथ हुए बर्ताव को लेकर शर्मिंदगी का भी एहसास दिखाई पड़ रहा था आप आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं रूही ने खींचते हुए कहा फिर विक्रांत ने कहा देखो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ समझे तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ईमानदारी मेरे से सीखो खास तौर पर रूही तुम अगर मेरे साथ काम करना है तो फिर तुम लोगों को ईमानदारी से रहना होगा काम में भी ईमानदारी और लाइफ में भी ईमानदारी विक्रांत की इस बात के साथ फिर से कार चल पड़ी अब कार के भीतर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था बाहर हो रही बारिश की बूंदें कार के शीशे पर पड़कर भले ही शोर का माहौल बनाए हुए थी कुछ देर तक सन्नाटे के बाद रूही ने विक्रांत की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा इससे अच्छा तो ये था कि मैं चोरी बनी रहती यहाँ तो मुझे हमेशा खुद के चोर ना होने का सबूत देना पड़ेगा विक्रांत रूही को जवाब देना चाहता था लेकिन तभी हर्ष ने बीच में ही बात बदलते हुए कहा अरे छोड़ो ये सब कुछ दूसरी बात करते हैं अच्छा सर आप इनाम में हमें कितने पैसे देंगे विक्रांत उन लोगों को कुछ और ज्ञान की बातें बताने जा रहा था लेकिन तभी अचानक से उसका फोन बज उठा उसने फोन निकाल कर देखा तो पता चला कि ये फोन डिवीजन चीफ मैडम का था विक्रांत ने तुरंत ही फोन उठाया मुश्किल से एक मिनट के भीतर ही बात करते हुए कहा फिर से मैं ही क्यों विक्रांत ने फोन पर डिवीजन चीफ मैडम से बात करते हुए कहा आपका मतलब क्या है ये दूसरी बार है आप खुद दिन देख लीजिए नया साल आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है गाजियाबाद का केस इस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और जितना टाइम हम वेस्ट करेंगे उतनी ही मुश्किल बढ़ती जाएंगी विक्रांत के साथ बैठे हर्ष हर्षित और अनुष्का बड़े ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहे थे विक्रांत की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद के एक बार फिर से उनके गाजियाबाद जाने का प्लान कैंसिल होने वाला था इससे पहले वर्कला बीच वाले केस की वजह से भी उन्हें गाजियाबाद जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा था उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक बार फिर से उनके साथ ही होने जा रहा है मुझे पता है विक्रांत ने फोन पर जवाब दिया लेकिन इस देश में हजारों कैदी हैं मैं उन सबको तो हाँ नहीं बोल सकता ना गाजियाबाद और जयपुर के बीच बहुत दूरी है अगर मान लीजिए वो कैदी कोई मजाक कर रहा हो तो हमारा टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट जाएगा इसके बाद विक्रांत कुछ देर तक बड़े ध्यान से फोन सुनता रहा और फिर काफी देर तक ध्यान से सुनने के बाद उसने कहा ठीक है पहले मुझे भेजिए एक बार मैं इसे देख लेता हूँ फिर बताता हूँ इस वक्त कार मेन रोड पर चल रही थी लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कार स्पीड ही नहीं पकड़ पा रही थी हर्ष को बेहद सावधानी के साथ ड्राइव करना पड़ रहा था विक्रांत के फोन रखने के बाद तुरंत ही हर्षित ने उससे सवाल किया क्या हुआ सर जयपुर जयपुर में क्या है गुलाबी शहर हम्म, हम्म, विक्रांत ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा और फिर उसने अपने फोन में आए हुए वीडियो को चेक करने लगा मैं रही हूँ वहाँ कुछ दिन रूही ने बीच में ही बोलते हुए कहा जब मैं अपने पापा के साथ थी तब वो मुझे लेकर कुछ दिन जयपुर में ही रहे थे दो चार महीने थी वहाँ में वहाँ में एक पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी बहुत अच्छा शहर है विक्रांत ने फिर वीडियो देखने के बाद उन लोगों को समझाते हुए कहा अच्छा ये रहा जब मैं सनग्रोव के साथ फाइट कर रहा था तभी अनूप ने मेरे पास ये वीडियो भेजा था उसने मुझे कई बार कॉल भी किया था लेकिन उस टाइम मैं फोन उठा नहीं पाया था तभी डिवीजन चीफ मैडम ने मेरे पास कॉल किया था मुझे तो लग रहा है कि मैटर बड़ा है मैं जान रहा हूँ जरूर कोई ना कोई टास्क होगा हर्ष ने अनुमान लगाते हुए कहा वरना डिवीजन चीफ मैडम इतनी रात में कॉल नहीं करती जरूर कोई ना कोई बड़ा केस होगा है ना हाँ लेकिन अभी क्लियर रीजन नहीं पता चला है विक्रांत ने कहा और इसके साथ ही उसने बाकी टीम मेंबर्स को अपने फोन में वीडियो दिखाते हुए कहा ये सस्पेक्ट का नाम केशव है केशव पंडित तीन महीने पहले इसको अपनी वाइफ के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था अभी ये जेल में है विक्रांत ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा हेडलेस वाले केस को सॉल्व करने के बाद अब सब लोग मुझे जाने लगे हैं अब सब अपना केस मुझसे ही सॉल्व करवाना चाहते हैं यही हाल केशव का भी है उसने पुलिस से रिक्वेस्ट किया है कि मैं उसको बेकसूर साबित करूं बेकसूर साबित करूं मतलब क्या उसको गलत केस में फंसाया गया है क्या हर्ष ने संदेश जताते हुए कहा फिर हर्षित ने भी विक्रांत से सवाल किया अच्छा तो अभी हम वहां जा रहे हैं या नहीं और अगर हम जयपुर जा रहे हैं तो गाजियाबाद का क्या होगा अनुष्का ने कहा सर भले ही ये आदमी जेल में है लेकिन हम लोग तो स्पेशल एजेंट्स हैं ना हमें ये केस क्यों दिया जा रहा है डिवीजन चीफ मैडम नॉर्मल को भी भेजकर तो ये केस सॉल्व करवा सकती हैं अब जब सस्पेक्ट खुद पुलिस की कस्टडी में है तो मुझे नहीं लगता केस ज्यादा क्रिटिकल होगा अनुष्का ने आगे कहा अभी हम लोगों के सामने सबसे बड़ा और क्रिटिकल केस तो गाजियाबाद वाला है उसके अलावा हमें किसी भी केस पर फोकस नहीं करना चाहिए भले ही हर्ष इस वक्त ड्राइविंग कर रहा था लेकिन फिर भी उसका पूरा ध्यान इस वक्त गाड़ी में चल रही बात पर था मौका मिलते ही उसने रियर मिरर की मदद से अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा तुम क्या बात कर रही हो हम लोगों को कुछ समझ के डिवीजन चीफ मैडम ये केस दे रही हैं फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन सर ये बात तो सही है अनुष्का गलत नहीं कह रही है अगर हम लोग ऐसे छोटे छोटे केस पर काम करने लगेंगे तो फिर तो हो गया विक्रांत ने फिर कहा तुमने सुना नहीं अभी जो मैंने कहा मुझे भी पहले यही लगा था लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है ये जो सस्पेक्ट है केशव पंडित ये राइटर है क्राइम नॉवल लिखता है फेमस राइटर है रूही ने फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा ओ फिर तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जरा सोचो क्राइम फिक्शन के राइटर को मर्डर के केस में अरेस्ट किया गया है विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा इस वीडियो को ध्यान से देखो ये केशव पंडित का रिकॉर्ड बयान है उसने बताया कि आज से दस साल पहले उसने एक क्राइम नावल लिखा था जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन किसी ने ठीक उसी तरह से लोगों का मर्डर करना शुरू कर दिया जैसा उन्होंने नावल में लिखा था मतलब कातिल ने उसके नावल की स्टोरी के अनुसार लोगों को मारना शुरू कर दिया